च मय्यावेश मनो एमा नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक् एक अतर्क यात्रा पर इस अध्याय का प्रारंभ होता है एक तो जगत है जो मनुष्य की बुद्धि समझ पाती सरल है गणित और तर्क वहां काम करता है समझ में आ सके समझ के नियमों के अनुकूल समझ की व्यवस्था में बैठ सके विवाद किया जा सके निष्कर्ष निकाले जा सके ऐसा एक जगत है और एक ऐसा जगत भी है जो तर्क के नियमों को तोड़ देता है बुद्धि वहां जाने की कोशिश करे तो द्वार बंद पाती है वहां हृदय ही प्रवेश कर सकता है वहां अंधा होना ही आंख वाला होना है और वहां मूढ़ होना बुद्धिमत्ता है ऐसे अतर्क के आयाम में भक्ति योग के साथ प्रवेश होगा बहुत सोचना पड़ेगा क्योंकि जो सोचने की पकड़ में ना आ सके उसके लिए बड़ी चेष्टा करनी पड़ेगी जो समझ के बाहर हो उसे समझने के लिए स्वयं को पूरा ही दांव पर लगा देना होगा और ऐसा साहस भी रखना होगा कि जहां हम चुक जाते हैं जरूरी नहीं कि सत्य चुक जाता हो और जहां हमारी सीमा आ जाती है जरूरी नहीं है कि अस्तित्व की सीमा आ जाती हो अपने से भी आगे जाने का साहस हो तो ही भक्ति समझ में आ सकती है जो अपने को ही पकड़ के बैठ जाते हैं भक्ति उनके समझ में नहीं आ सकेगी जो अपनी बुद्धि को ही अंतिम मापदंड मान लेते हैं उनके मापदंड में भक्ति का सत्य नहीं बैठ सकेगा इस बात को पहले समझ लें कुछ जरूरी बातें इस बात को समझने के लिए ख्याल में लेनी होंगी एक तो जो हमें तर्क जैसा मालूम पड़ता है और उचित लगता है सब भांति बुद्धि को भाता है जरूरी नहीं है बहुत बहुत गहरी खोज पर सही ही सिद्ध हो जो हम जानते हैं अगर वहां तक सत्य होता तो हमें मिल गया होता जो हमारी समझ है अगर वहीं परमात्मा की अनुभूति होने वाली होती तो हमें हो गई होती जो हम हैं वैसे ही अगर हम उस परम रहस्य में प्रवेश कर पाते तो हम प्रवेश कर ही गए होते एक बात तो साफ है कि जैसे हम हैं उससे परम सत्य का कोई संबंध नहीं जुड़ता है हमारी बुद्धि जैसी अभी है आज है उसका जो ढांचा और व्यवस्था है शायद उसके कारण ही जीवन का रहस्य खुल नहीं पाता द्वार बंद रह जाते कभी आपने देखा हो सूफी निरंतर कहते रहे हैं सूफी फकीर बायजीद बार बार कहता था कि एक बार एक मस्जिद में बैठा हुआ था और एक पक्षी खिड़की से भीतर घुस आया बंद कमरा था सिर्फ एक खिड़की ही खुली थी पक्षी ने बड़ी कोशिश की दीवानों से टकराया बंद दरवाजों से टकराया छप्पर से टकराया और जितना टकराया उतना ही घबरा गया जितना घबरा गया उतनी बेचैनी से बाहर निकलने की कोशिश की बाजीत बैठा ध्यान करता था बाजीत बहुत चकित हुआ सिर्फ उस खिड़की को छोड़कर पक्षी ने सारी कोशिश की जो खिड़की खुली थी और जिससे वो भीतर आया था बाजीत बहुत चिंतित हुआ कि इस पक्षी को कोई कैसे समझाए कि जब तू भीतर आ गया है तो बाहर जाने का मार्ग भी निश्चित ही है क्योंकि जो मार्ग भीतर ले आता है वही बाहर भी ले जाता है सिर्फ दिशा बदल जाती है द्वार तो वही होता है और जब पक्षी भीतर आ सका है तो बाहर भी जा ही सकेगा अन्यथा भीतर आने का भी कोई उपाय ना होगा लेकिन वो पक्षी सब तरफ टकराता है खुली खिड़की छोड़कर ऐसा नहीं कि उस पक्षी को बुद्धि ना थी उस पक्षी को भी बुद्धि रही होगी लेकिन पक्षी का भी यही ख्याल रहा होगा कि जिस खिड़की से भीतर आके मैं फंस गया उस खिड़की से बाहर कैसे निकल सकता हूं जो भीतर लाके मुझे फंसा दी वो बाहर ले जाने का द्वार कैसे हो सकती यही तर्क उसका रहा होगा जिससे हम झंझट में पड़ गए उससे हम झंझट के बाहर कैसे निकलेंगे इसलिए उस खिड़की को छोड़कर पक्षी ने सारी कोशिश की बायजीद ने सहायता भी पहुंचानी चाहिए लेकिन जितनी सहायता करने की कोशिश की पक्षी उतना बेचैन और परेशान हुआ उसे लगा कि बाजीद भी उसको उलझाने की फांसने की गुलाम बनाने की बंदी बनाने की कोशिश कर रहा है और भी घबरा गया बाजीद ने लिखा है कि उस दिन मुझे समझ में आया कि संसार में आके हम भी ऐसे ही उलझ गए और जिस द्वार से हमने भीतर प्रवेश किया है उस द्वार को छोड़कर हम सब द्वारों की खोज करते हैं और जब तक हम उसी द्वार पर नहीं पहुंच जाते जहां से हम जीवन में प्रवेश करते हैं तब तक हम बाहर भी नहीं निकल सकते बुद्धि के कारण आप जगत में नहीं उलझ गए हैं विचार के कारण आप जगत में नहीं उलझ गए आपके जगत में आगमन का द्वार प्रेम आपके अस्तित्व का जीवन का द्वार प्रेम और प्रेम जब उल्टा हो जाता है तो भक्ति बन जाती है जब प्रेम की दिशा बदल जाती तो भक्ति बन जाती जब तक आप अपनी आंखों के आगे जो है उसे देख रहे हैं जब तक उससे आपका मोह है लगाव है तब तक आप संसार में उतर चिंतन चले जाते हैं और जब आप आंख बंद कर लेते हैं और जो आंख के आगे दिखाई पड़ता है वो नहीं बल्कि आंख के पीछे जो छिपा है उस पर लगाव और प्रेम को जोड़ देते हैं तो भक्ति बन जाती द्वार वही है द्वार दूसरा हो भी नहीं सकता जिससे हम भीतर आते हैं उससे ही हमें बाहर जाना होगा जिस रास्ते से आप यहां तक आए हैं घर लौटते वक्त भी उसी रास्ते से जाइएगा सिर्फ एक ही फर्क होगा कि यहां आते समय आपका ध्यान इस तरफ था आंखें इस तरफ थी रुख इस तरफ था लौटते वक्त इस तरफ पीठ होगी आंखें वही होंगी सिर्फ दिशा बदल जाएगी आप वही होंगे रास्ता वही होगा सिर्फ दिशा बदल जाएगी प्रेम की दिशा के परिवर्तन का नाम भक्ति है और प्रेम से हम इस जगत में प्रवेश करते हैं प्रेम से ही हम इस जगत के बाहर जा सकते हैं लेकिन प्रेम के कुछ लक्षण समझ लेने जरूरी है प्रेम का पहला लक्षण तो है उसका अंधापन और जो भी प्रेम में नहीं होता वो प्रेमी को अंधा और पागल मानता है मानेगा क्योंकि प्रेमी सोच विचार नहीं करता तर्क नहीं करता हिसाब नहीं लगाता क्या होगा परिणाम इसकी चिंता नहीं करता बस छलांग लगा लेता जैसे प्रेम इतनी बड़ी घटना है कि उसमें डूब जाता है और एक हो जाता है वो जो भी आसपास खड़े लोग हैं वे सोचेंगे कि कुछ गलती हो रही है प्रेम में भी विचार होना चाहिए प्रेम में भी सूझबूझ होनी चाहिए कहीं कोई गलत कदम ना उठ जाए इसकी पूर्व धारणा होनी चाहिए प्रेम अंधा दिखाई पड़ेगा बुद्धिमानों लेकिन प्रेम की अपनी ही आंखें और जिसको वे आंखें उपलब्ध हो जाती हैं वो बुद्धि की आंखों को अंधा मानने लगता है जिसको प्रेम का रस आ जाता है उसके लिए सारा तर्क शास्त्र व्यर्थ हो जाता है और जो प्रेम की धुन में नाच उठता है जो संगीत को अनुभव कर लेता है वह आपके सारे सोच विचार को दो कोड़ी की तरह छोड़ दे सकता है उसके हाथ में कोई हीरा लग गया अब इस हीरे के लिए आपकी कौड़ियों को नहीं संभाला जा सकता प्रेम अंधा मालूम पड़ता है क्योंकि प्रेम के पास वे ही आंखें नहीं है जो बुद्धि के पास है प्रेम के पास कोई दूसरी आंखें प्रेम के देखने का ढंग कोई और प्रेम हृदय से देखता है और चूंकि हम इस जगत में प्रेम के कारण ही प्रविष्ट होते हैं अपने प्रेम के कारण दूसरों के प्रेम के कारण हम इस जगत में आते हैं हमारा शरीर निर्मित होता है हम अस्तित्ववान होते हैं इसी प्रेम को उल्टाना पड़ेगा इसी अंधे प्रेम का नाम जब ये जगत की तरफ से हटता है और भीतर चेतन की तरफ मुड़ता है श्रद्धा है श्रद्धा अंधा प्रेम है लेकिन मूल स्रोत की तरफ लौट गया संसार की तरफ बहता हुआ वही प्रेम वासना बन जाता है परमात्मा की तरफ लौटता हुआ ये वही प्रेम श्रद्धा और भक्ति बन जाए जैसा प्रेम अंधा है वैसी भक्ति भी अंधी है इसलिए जो बहुत बुद्धिमान है उनके लिए भक्ति का मार्ग मार्ग ही मालूम नहीं पड़ेगा जो बहुत सोच विचार करते हैं जो बहुत तर्क करते हैं जो परमात्मा के पास भी बुद्धिमानी पूर्वक पहुंचना चाहते हैं उनके लिए भक्ति का मार्ग नहीं उनके लिए मार्ग है लेकिन कृष्ण इस सूत्र में कहेंगे कि भक्ति से श्रेष्ठ उन मार्गों में कोई भी मार्ग नहीं किस कारण क्योंकि बुद्धि कितना ही सोचे अहंकार के पार जाना बहुत मुश्किल प्रेम छलांग लगा के अहंकार के बाहर हो जाता बुद्धि लाख प्रत्न करके भी अहंकार के बाहर नहीं हो पाती क्योंकि जब मैं सोचता हूं तो मैं तो बना ही रहता हूं जब मैं हिसाब लगाता हूं तो मैं तो बना ही रहता हूं मैं कुछ भी करूं पूजा करूं ध्यान करूं योग साधू लेकिन मैं तो बना ही रहता हूं भक्ति पहले ही क्षण में मैं को पार कर जाती क्योंकि भक्ति का अर्थ है समर्पण भक्ति का अर्थ है क्या मैं नहीं तू ज्यादा महत्वपूर्ण और अब मैं मैं को छोड़ूंगा मिटाऊंगा ताकि तुझे पा सकूं ये मेरा मिटना ही तेरे पाने का रास्ता बनेगा और जब तक मैं हूं तब तक तुझसे दूरी बनी रहेगी जितना मजबूत हूं मैं उतनी ही दूरी है उतना ही फासला है जितना पिघलूंगा जितना गलूंगा जितना मिटूंगा उतनी ही दूरी मिट जाएगी भक्ति को कृष्ण श्रेष्ठतम योग कहते हैं एक कारण और है जिस वजह से जहां दो हो और फिर भी एक का अनुभव हो जाए तो ही योग है और जहां एक ही हो और एक का अनुभव हो तो योग का कोई सवाल नहीं अगर कोई ऐसा समझता हो कि केवल परमात्मा ही है और कुछ भी नहीं तो योग का कोई सवाल नहीं मिलन का कोई सवाल नहीं जब एक ही है तो न मिलने वाला है न कोई और है जिसमें मिलना है मिलने की घटना तो तभी घट सकती है जब दो हों एक शर्त ख्याल रखनी जरूरी दो हो और फिर भी दो के बीच एक का अनुभव हो जाए तभी मिलने की घटना घटती मिलन बड़ी आश्चर्यजनक घटना दो होते हैं और फिर भी दो नहीं होते दो लगते हैं फिर भी दो ही मिट गई होती है दो छोर मालूम पड़ते हैं फिर बीच में एक का ही प्रवाह अनुभव होता है दो किनारे होते हैं लेकिन सरिता बीच में बहने वाली एक ही होती है जब दो के बीच एक का अनुभव हो जाए तो योग इसलिए कृष्ण भक्ति को सर्वश्रेष्ठ योग कहते हैं मजा ही क्या है अगर एक ही हो तो मिलने का कोई अर्थ भी नहीं और अगर दो हो और दो ही बने रहे तो मिलने का कोई उपाय नहीं दो हो और एक की प्रतीति हो जाए दो होना ऊपरी रह जाए एक होना भीतरी अनुभव बन जाए दो के बीच जब एक की प्रतीति होती है कृष्ण उसी को योग कहते हैं वही मिलन वही परम समाधि इस मिलने में परमात्मा तो पहले से ही तैयार है सदा तैयार है हम बाधा हैं आमतौर से हम सोचते हैं हम परमात्मा को खोज रहे हैं और परमात्मा नहीं मिल रहा है इससे बड़ी भ्रांति की कोई और बात नहीं हो सकती सच्चाई कुछ और ही है परमात्मा हमें निरंतर से खोज रहा है लेकिन हम ऐसे अड़े हुए हैं अपने पर कि हम उसको भी सफल नहीं होने देते सुना है मैंने एक सम्राट अपने बेटे पर नाराज हो गया तो उसने उसे घर से निकाल दिया फिर बाप था साल छह महीने में पिघल गया वापिस खबर भेजी लड़के को कि लौट आओ लेकिन लड़का भी जिद्दी था और उसने लौटने से इंकार कर दिया कि वे एक बार निकाल ही दिया तो अब अब आना उचित नहीं अब मैं नहीं लूंगा यहां से वो राज्य की सीमा के बाहर जाकर बैठ गया सम्राट ने मंत्री को भेजा और कहा थोड़ा तो हिलो एक कदम ही सही तुम एक कदम चलो बाकी कदम मैं चल लूंगा बाप ने खबर भेजी कि तुम एक कदम ही चलो तो भी ठीक बाकी कदम मैं चल लूंगा लेकिन तुम्हारा एक कदम चलना जरूरी ऐसे तो मैं भी पूरा चल के आ सकता हूं जब इतने कदम चल सकता हूं तो एक कदम और चल लूंगा लेकिन वो मेरा आना व्यर्थ होगा क्योंकि तुम मिलने को तैयार ही नहीं हो तुम्हारा एक कदम तुम्हारी मिलने की तैयारी की खबर देगा बाकी मैं चल लूंगा आपका एक कदम चलना ही जरूरी है बाकी तो परमात्मा चला ही हुआ है लेकिन आपकी मिलने की तैयारी ना हो तो आप पर आक्रमण नहीं किया जा सकता परमात्मा अनाक्रमक है वो प्रतीक्षा करेगा फिर उसे कोई समय की जल्दी भी नहीं फिर आज ही हो जाए ऐसा भी नहीं है अनंत तक प्रतीक्षा की जा सकती है समय की कमी हमें है उसे नहीं समय की अड़चन हमें है हमारा समय चुक रहा है और हमारी शक्ति वह हो रही है लेकिन एक कदम हमारी तरफ से उठाया जाए तो परमात्मा की तरफ से सारे कदम उठाए ही हुए वो एक कदम भक्ति एक ही छलांग में उठा लेती और ज्ञान को उस एक कदम को उठाने के लिए हजारों कदम उठाने पड़ते क्योंकि ज्ञान कितने ही कदम उठाए अंत में उसे वो कदम तो उठाना ही पड़ता है जो भक्ति पहले ही कदम पर उठाती है और वो है अहंकार विसर्जन ज्ञानी कोई कितना ही बड़ा हो जाए एक दिन उसे ज्ञानी होने की अस्मिता भी छोड़नी पड़ती इसलिए सोक्रेटिस ने कहा है कि ज्ञान का अंतिम चरण है इस बात का अनुभव कि मैं ज्ञानी नहीं हूं ज्ञान की पूर्णता है इस प्रतीति में कि मुझसे बड़ा अज्ञानी और कोई भी नहीं अगर ज्ञान की पूर्णता इस प्रतीति में है कि मैं अज्ञानी हूं तो इसका अर्थ क्या हुआ इसका अर्थ हुआ कि भक्त जो कदम पहले ही उठा लेता है भक्त पहले ही कदम पर अंधा हो जाता है ज्ञानी अंतिम कदम पर अंधा होता बहुत यात्रा करके उसी द्वार पर आना होता है जहां आदमी अपने को खोता है पर ज्ञानी बहुत चक्कर लेता है बड़े शास्त्र बड़े सिद्धांत बड़े वाद हैं उन सब में भटकता है बड़े विचार हैं और जब तक ऊब नहीं जाता है और जब तक अपने ही विचारों से परेशान नहीं हो जाता है और जब तक उसे ये समझ में नहीं आ जाता कि मेरे विचार ही जाले की तरह मुझे बांधे हुए हैं और मेरे विचार ही मेरी हथकड़ियां हैं और मैंने अपने ही विचारों से अपना कारागृह निर्मित किया है तब तक तब तक वो लंबी भटकन से गुजरता है वक्त पहले ही कदम में अपने को छोड़ देता है और जिस क्षण कोई अपने को छोड़ देता है उसी क्षण परमात्मा उसे उठा लेता है भक्त का साहस अद्भुत साहस का एक ही अर्थ होता है अज्ञात में उतर जाना साहस का एक ही अर्थ होता है अनजान में उतर जाना ज्ञानी जान जान के चलता है सोच सोच के कदम उठाता है हिसाब रखता है भक्त पागल की तरह कूद जाता इसलिए ज्ञानियों को भक्त सदा पागल मालूम पड़े और उन भक्त पागलों ने हमेशा ज्ञानियों को व्यर्थ के उपद्रव में पड़ा हुआ समझा ये जो भक्ति के सूत्र इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे इनमें ये बातें ध्यान रख लेनी जरूरी है ये प्रेम और पागलपन के सूत्र इनमें थोड़ा सा आपको पिघलना पड़ेगा अपनी बुद्धि की जगह से थोड़ा आपका हृदय गतिमान हो और थोड़ी हृदय में तरंगे उठे तो इन सूत्रों से संबंध स्थापित हो जाए आपके सिरों की बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी आपके हृदय की जरूरत होगी आप अगर थोड़े से नीचे सरक आएंगे अपनी खोपड़ी से थोड़ी हृदय की तरफ सोच विचार नहीं थोड़ी हृदय की धड़कन की तरफ निकट आ जाएंगे तो इन सूत्रों से आपका संबंध और संवाद हो पाएगा और ऐसा नहीं है कि एक बार आपका हृदय समझता है तो आपकी बुद्धि की कसौटी पर ये सूत्र नहीं उतरेंगे उतरेंगे लेकिन एक बार हृदय समझ जाए एक बार आपके हृदय में इनके रस की थोड़ी सी धारा बह जाए तो फिर बुद्धि की भी समझ में आ जाएंगे लेकिन सीधा अगर बुद्धि से प्रयोग करने की कोशिश की तो बुद्धि बाधा बन जाएगी जैसा मैंने कहा बहुत बार लगता है कि बुद्धि बिल्कुल ठीक कह रही क्योंकि हमें ठीक का कोई पता नहीं जो बुद्धि कहती है उसी को हम ठीक मानते हैं सुना है मैंने एक बहुत बड़ा तर्कशास्त्री रात सोया हुआ था उसकी पत्नी ने उसे उठाया और कहा कि जरा उठो बाहर बहुत सर्दी है और मैं गली जा रही हूं खिड़की बंद करो उसकी पत्नी ने कहा there is too much cold down science get up and close the window उस तर्कशास्त्री ने कहा कि तू भी अजीब बातें कर रही है क्या मैं खिड़की बंद कर दूं तो बाहर गर्मी हो जाएगी If I close the window, will outside get warm? क्या बाहर सर्दी चली जाएगी अगर मैं खिड़की बंद कर दू तर्क की लिहाज से बिल्कुल ठीक बात है उसकी पत्नी कह रही थी कि बाहर बहुत सर्दी है खिड़की बंद करो उस तर्क शास्त्री ने कहा क्या खिड़की बंद करने से बाहर गर्मी हो जाएगी खिड़की बंद करने से बाहर गर्मी नहीं होने वाली और पति सो गया तर्क की किताब में भूल खोजनी मुश्किल है क्योंकि पत्नी ने जो कहा था उसका जवाब दे दिया हमारी जिंदगी में हम अज्ञात के संबंध में जो तर्क उठाते हैं वे करीब करीब ऐसे ही होते हैं उनके जवाब दिए जा सकते हैं और फिर भी जवाब व्यर्थ होते हैं क्योंकि जिस संबंध में हम जवाब दे रहे हैं उस संबंध में तर्क युक्त हो जाना काफी नहीं और तर्क की और एक असुविधा है कि तर्क कुछ भी सिद्ध कर सकता है और तर्क कुछ भी असिद्ध कर सकता है तर्क वैश्या की भांति उसका कोई पति नहीं तर्क का कोई भी पति हो सकता है जो भी तर्क को चुकाने को तैयार है पैसे वही पति हो जाते हैं इसलिए तर्क कोई भरोसे की नाव नहीं है आज तक दुनिया में ऐसा कोई तर्क नहीं दिया जा सका जिसका खंडन न किया जा सके और मजा यह है कि जो तर्क एक बात को सिद्ध करता है वही तर्क उसी बात को असिद्ध भी कर सकता है मैंने सुना है एक बड़ा तर्कशास्त्री शुभ सुबह अपने बगीचे में बैठकर नाश्ता कर रहा था और जैसा कि अक्सर होता है तर्क शास्त्री निराशावादी होता क्योंकि तर्क से कोई आशा की किरण तो निकलती नहीं आशा की किरण तो निकलती है प्रेम से जो अतर्क तर्क से तो केवल उदासी निकलती है जिंदगी में क्या क्या व्यर्थ है वही दिखाई पड़ता है और कहां कहां कांटे हैं वही अनुभव में आते हैं फूलों को समझने के लिए तो हृदय चाहिए कांटों को समझने के लिए बुद्धि काफी पर्याप्त तर्क शास्त्री निराशावादी था वो चाय पी रहा था और अपने दोस्त पर मक्खन लगा रहा तभी वो बोला कि दुनिया में इतना दुख है और दुनिया में सब चीजें गलत हैं कि अगर मेरे हाथ से ये रोटी का टुकड़ा छूट जाए तो मैं कितनी ही शर्त बच सकता हूं अगर ये रोटी का टुकड़ा मेरे हाथ से छूटे तो दुनिया इतनी बदतर है कि जिस तरफ मैंने मक्खन लगाया है उसी तरफ से ये जमीन पर गिरेगा ताकि दूर लग जाए और नष्ट हो जाए उसकी पत्नी ने कहा ऐसा अनिवार्य नहीं है दूसरी तरफ भी गिर सकता है तो उस तर्क शास्त्री ने कहा फिर तुझे पता नहीं जो संसार के ज्ञानी कहते रहे कि संसार दुख बात बढ़ गई और शर्त भी लग गई तर्क शास्त्री ने उछाला रोटी का टुकड़ा संयोग की बात मक्खन की तरफ से नीचे नहीं गिरा मक्खन की तरफ ऊपर रही और जिस तरफ मक्खन नहीं था उस तरफ से फर्श पे गिरा पत्नी ने कहा कि देखो मैं सर जीत गई तर्क शास्त्री ने कहा तू तर्क ना तो तू शर्त जीती और न मेरी बात गलत हुई सिर्फ इससे इतना ही सिद्ध होता है कि मैंने गलत तरफ मक्खन लगाया टुकड़ा तो वहीं गिरा है जैसा गिरना चाहिए था सिर्फ मक्खन मैंने दूसरी तरफ लगा दिया तर्क का कोई भरोसा नहीं और हम तर्क से जीते और हम पूरी जिंदगी को तर्क के जाल से बुन लेते हैं उसके बीच लगता है हम बहुत बुद्धिमान और अक्सर उसी बुद्धिमानी में हम जीवन का वो सब खो देते हैं जो हमें मिल सकता है भक्ति तर्क के लिए अगम्य विचार के लिए सीमा के बाहर होशियारों का वहां काम नहीं वहां ना समझ प्रवेश कर जा तो ना समझ होने की थोड़ी तैयारी रखना अब हम सूत्रों को लें मेरे मैं मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन व ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अति श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को बचते हैं इसमें बहुत सी बातें समझ लेने जैसी हैं मुझ में मन को एकाग्र करके क्या आपने कभी ख्याल किया कि एकाग्रता प्रेम की भूमि में सहज ही फलित हो जाती प्रेम की भूमि हो तो एकाग्रता अपने आप अंकुरित हो जाती असल में आप अपने मन को एकाग्र इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जिस विषय पर आप एकाग्र करना चाहते हैं उससे आपका कोई प्रेम नहीं है अगर एक विद्यार्थी मेरे पास आता है और कहता है मैं पढ़ता हूं डॉक्टरी पढ़ता हूं इंजीनियरिंग पढ़ता हूं लेकिन मेरा मन नहीं लगता मन एकाग्र नहीं होता तो मैं पहली बात यही पूछता हूं कि जो भी तू पढ़ता है उससे तेरा प्रेम है क्योंकि अगर प्रेम नहीं है तो एकाग्रता असंभव और जहां प्रेम है वहां एकाग्रता ना हो ऐसा असंभव वही युवक कहता है कि उपन्यास पढ़ता हूं तो मन एकांत हो जाता फिल्म देखता हूं तो मन एकांत हो जाता तो जहां प्रेम है वहां एकाग्रता हो जाती जहां लगाव है वहां एकाग्रता हो जाती जब भी आप पाए कि किसी बात में आपकी एकाग्रता नहीं होती तो एकाग्रता करने की कोशिश न करके इस बात को पहले समझने की कोशिश कर लेनी चाहिए कि मेरा प्रेम भी वहां है या नहीं प्रेम के लिए एकाग्रता का प्रश्न ही नहीं उठता अगर आइंस्टीन अपने गणित को हल करता है तो उसे एकाग्रता करनी नहीं पड़ती गणित उसका प्रेम उसकी प्रेसी भी बैठी रहे तो वो प्रेसी को भूल जाएगा और गणित को नहीं भूलेगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मिलने गए थे आइंस्टीन को तो छह घंटे उनको प्रतीक्षा करनी पड़ी और आइंस्टीन अपने बाथरूम में है और निकलता ही नहीं आइंस्टीन की पत्नी ने बार बार उनको कहा कि आप चाहें तो जा सकते हैं आपको बहुत देर हो गई और क्षमा याचना मांगी लेकिन कोई उपाय नहीं यही संभावना है कि वो अपने तब बांस में बैठ के गणित सुलझाने में लग गए हो छह घंटे बाद आइंस्टीन बाहर आया तो बहुत प्रसन्न था क्योंकि कोई पहेली हल हो गई खाना भूल जाएगा पत्नी भूल जाएगी लेकिन वो जो गणित की पहेली है वो नहीं भूले जहां प्रेम है वहां एकाग्रता सहज फलित हो जाती एकाग्रता प्रेम की छाया है आप चाहें भी तो फिर मन की एकाग्रता को तोड़ नहीं सकते इसलिए तो जब आप किसी के प्रेम में होते हैं और उसे बुलाना चाहते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है जिससे प्रेम नहीं है उसे याद करना जितना मुश्किल है उससे ज्यादा मुश्किल है जिससे प्रेम है उसे बुलाना जिससे प्रेम है उसे बुलाइएगा कैसे कोई उपाय नहीं बुलाने की कोशिश भी बस उसको याद करने की कोशिश बनकर रह जाती और बुलाने में भी उसकी याद ही आती है और कुछ भी नहीं होता और बुलाने में भी याद मजबूत होती है पुनरुक्त हो जहां प्रेम है वहां एकाग्रता छाया की तरह चली जाती है इसलिए कृष्ण कहते हैं मेरे में मन को एकाग्र करके एकाग्रता का अर्थ ही है मुझ में अपने प्रेम को पूरी तरह डुबाकर मुझ में अपने हृदय को पूरी तरह रख कर या अपने हृदय में मुझे पूरी तरह रख कर प्रेम का अर्थ है अपने को गंवाकर अपने को खोकर मैं ही बचूंगा रोआ रोआ मेरी ही याद कर मेरे भजन और ध्यान में लगे हुए मेरा ही गीत मेरा ही नृत्य उठते बैठते जीवन की सारी क्रिया मेरी ही स्मृति बन जाए जहां भी देखे मैं दिखाई पड़ू अगर आपने कभी किसी को प्रेम किया है अगर इसलिए कहता हूं क्योंकि प्रेम की घटना कम होती जाती है प्रेम की चर्चा बहुत होती है प्रेम की कहानियां बहुत चलती हैं प्रेम की फिल्में बहुत बनती हैं वे बनती ही इसलिए हैं कि प्रेम नहीं रहा है वे सब्सिट्यूट है भूखा आदमी भोजन की बात करता है जिसके पास भोजन पर्याप्त है वो भोजन की बात नहीं करता नंगे आदमी कपड़े की चर्चा करते हैं और जब कोई आदमी कपड़े की चर्चा करते मिले तो समझना कि नंगा है भला कितने कपड़े पहने हो क्योंकि हम जो नहीं पूरा कर पाते जीवन में उसको हम विचार कर करके पूरा करने की कोशिश करते हैं आज सारी जमीन पर प्रेम की इतनी चर्चा होती है इतने गीत लिखे जाते हैं इतनी किताबें लिखी जाती हैं उसका कुल मात्र कारण इतना है कि जमीन पर प्रेम सूखता चला जा रहा है अब चर्चा करके ही फिल्म देख के ही अपने को समझाना सुलझाना पड़ रहा है इसलिए कहता हूं कि अगर आपने किसी को कभी प्रेम किया हो तो एक बात आपके ख्याल में आई हो कि आप जहां भी देखें आपको अपने प्रेमी की बनत अनुभव हो अगर प्रेमी आकाश में देखे तो तारों में उसकी प्रेसी की आंख उसे दिखाई पड़ेगी चांद को देखे तो प्रेसी दिखाई पड़ेगी सागर की लहरों को सुने तो प्रेसी की की प्रतीति होगी फूलों को खिलता देखे कि कहीं कोई गीत सुने कि कहीं कोई वीणा का का स्वर सुने कि पक्षी सुबह गीत गाए कि सूरज निकले कि कुछ भी हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा सब तरफ से उसे एक ही खबर मिलती रहेगी और एक ही स्मरण पर चोट पड़ती रहेगी और उसके हृदय में एक ही धुन बसती रहेगी जब कोई परमात्मा की तरफ इस भांति झुक जाता है कि फूल में वही दिखाई पड़ने लगता है आकाश में उड़ते पक्षी में वही दिखाई पड़ने लगता है कि घास पर जमी हुई सुबह की ओस में वही दिखाई पड़ने लगता तब समझना भजन पूरा हुआ भजन का मतलब है वही दिखाई पड़ता हो सब जगह ऐसा मुंह से राम राम कहते रहने से भजन नहीं हो जाता वो भी सब्सिट्यूट है जब अस्तित्व में अनुभव नहीं होता तो आदमी मुंह से कह के परिपूर्ति कर लेगा एक आदमी सुबह से राम राम कहता चला जा रहा है पास में खिले फूल में उसे राम नहीं दिखाई पड़ता आकाश में सूरज उग रहा है उसे राम नहीं दिखाई पड़ता वो अपने ओठों से राम राम कहे चला जा रहा है बुरा नहीं है कुछ और कहने से बेहतर ही है कुछ ना कुछ तो वो कहेगा ही ओठ कुछ ना कुछ करेंगे ही बेहतर है कुछ बुरा नहीं है लेकिन ये भजन नहीं भजन तो ये है कि चारों तरफ जो भी हो रहा है वो सभी राम में हो जाए उस सभी में वही दिखाई पड़ने लगा जब तक आपको मंदिर में ही भगवान दिखाई पड़ता है तब तक समझना कि अभी आपको भगवान के मंदिर का कोई पता नहीं जब तक आपको उसकी किसी बंधी हुई मूर्ति में ही उसकी प्रतीति होती तब तक समझना कि अभी आपको उसका कोई पता ही नहीं अन्यथा सभी मूर्तियां उसकी हो जाएंगी अनगढ़ पत्थर भी उसी की मूर्ति होगा रास्ते के किनारे पड़ी हुई चट्टान भी उसी की मूर्ति होगा क्योंकि भजन से भरे हुए हृदय को सब तरफ वही सुनाई पड़ने लगता है ये जगत एक प्रतिध्वनि है जो हमारे हृदय में होता है वही हमें सुनाई पड़ने लगता है अगर आप लोभ से भरे हैं तो आपको चारों तरफ बस अपने लोभ का विस्तार धन ही दिखाई पड़ेगा ऐसा करें कि किस दिन उपवास कर लें फिर सड़क पर निकल जाएं। आपको सिवाय होटलों रेस्तरा के बोर्ड के कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा जो जिस रास्ते से आप रोज निकले थे जिस होटल का बोर्ड आपने कभी नहीं पढ़ा था आप उसको बड़े रस से पढ़ेंगे आज भीतर उपवास है भीतर भूख है और भोजन अतिशय महत्वपूर्ण हो गया आपको भोजन ही दिखाई पड़ेगा जर्मन कवि हेनरिक हेन ने लिखा है कि एक दफे में जंगल में भटक गया और तीन दिन तक भोजन न मिला तो हमेशा जब भी पूर्णिमा का चांद निकलता था तो मुझे अपनी प्रेसी की तस्वीर दिखाई पड़ती उस दिन भी पूर्णिमा का चांद निकला मुझे लगा कि एक रोटी सफेद रोटी आकाश में प्रेसी वगैरह दिखाई नहीं पड़ी सफेद रोटी जो भीतर है वो चारों तरफ प्रतिध्वनित होने लगता है ये जगत आपकी प्रतिध्वनि इस जगत में चारों तरफ दर्पण लगे हैं जिनमें आपकी तस्वीर ही आपको दिखाई पड़े भजन का अर्थ है जब आपके भीतर भगवान का प्रेम गहन होता है तो सब तरफ उसकी प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने लगती फिर आप जो भी करते हैं वो भजन कबीर ने कहा है उठूं बैठूं चलूं सब तेरा भजन इसलिए अब अलग से करने की कोई जरूरत ना रही मेरे में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन व ध्यान में लगे हुए हैं जो अति अतिश्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए अतिश्रेष्ठ श्रद्धा क्या है एक तो श्रद्धा है जो तर्क पर ही निर्भर हो वो श्रेष्ठ श्रद्धा नहीं क्योंकि उसका वास्तविक सहारा बुद्धि अभी भी छलांग नहीं हुई लोगों ने ईश्वर के होने के प्रमाण दिए जो उन प्रमाणों को मान के श्रद्धा लाते हैं उनकी श्रद्धा निकृष्ट श्रद्धा है जैसे पश्चिम में पूरब में अनेक दार्शनिक हुए जिन्होंने प्रमाण दिए कि ईश्वर क्यों है अनेक प्रमाण दिए हैं कोई कहता है इसलिए ईश्वर को मानना जरूरी है कि अगर वो ना हो तो जगत को बनाया किस जब जगत है तो बनाने वाला होना चाहिए जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है तो कुम्हार भी होना चाहिए नहीं तो घड़ा कैसे होगा तर्क देने वालों ने कहा है कि जगत में प्रयोजन दिखाई पड़ता है जगत प्रयोजनहीन नहीं मालूम पड़ता जगत में एक्सीडेंट नहीं मालूम पड़ता एक सिस्टम एक व्यवस्था मालूम पड़ती है जरूर कोई व्यवस्थापक होना चाहिए जगत चैतन्य मालूम पड़ता है यहां मन है विचार है चेतना है तो इस चेतना पदार्थ से पैदा नहीं हो सकती तो जगत के पीछे कोई चैतन्य हाथ होना चाहिए ये हजारों तर्क इस तरह के लोगों ने ईश्वर के होने के लिए और अगर आप इन तर्कों के कारण ईश्वर को मानते हैं तो आपकी श्रद्धा निकृष्ट श्रद्धा है निकृष्ट इसलिए कि सब तर्क कमजोर हैं और सब खंडित किए जा सकते इनमें कोई भी तर्क ऐसा नहीं है जिसका खंडन न किया जा सके और जिस तर्क से आप सिद्ध करते हैं ईश्वर को उसी तर्क से ईश्वर को असिद्ध किया जा सकता है जैसे कि आस्तिक हमेशा कहते रहे कि जब भी कोई चीज हो तो उसका बनाने वाला चाहिए क्रिएटर सृष्टा चाहिए तो चारवाक ने कहा है कि अगर हर चीज का बनाने वाला चाहिए तो तुम्हारे ईश्वर का बनाने वाला कौन वही तर्क है आस्तिक नाराज हो जाता है इस तर्क से लेकिन इसी तर्क पे उसकी श्रद्धा खड़ी है वो कहता बनाने वाला चाहिए सृष्टा चाहिए सृष्टि है तो सृष्टा चाहिए बिना सृष्टा के ये सब बनेगा कैसे नास्तिक कहता हम मानते हैं आपके तर्क को लेकिन ईश्वर को कौन बनाएगा वहां आस्तिक को बेचैनी शुरू हो जाती इस बात को वो कहता है कुतर्क अगर ये कुतर्क है तो पहला तर्क कैसे हो सकता है और नास्तिक कहता है अगर ईश्वर बिना बनाए हो सकता है तो फिर जगत को भी बिना बनाए होने में कौन सी अड़चन अगर ईश्वर बिना बनाया है अनक्रिएटेड है अस्त्रष्ट है तो फिर फिजूल की बात में क्यों पढ़ना ये जगत ही अस्त्रष्ट मान लेने में हर्ज क्या है जब अस्त्रष्ट को मानना ही पड़ता है तो फिर इस प्रत्यक्ष जगत को ही मानना उचित है इसके पीछे और छिपे हुए रहस्यमय को व्यर्थ बीच में लाने की क्या जरूरत ऐसा कोई भी तर्क नहीं है जो नास्तिक न तोड़ देते हो इसलिए आस्तिक नास्तिकों से डरते हैं इसलिए नहीं कि वो आस्तिक है आस्तिक होते तो न डरते निकृष्ट आस्तिक है उनके जिन तर्कों पर आधार है ईश्वर आस्था का वे सब तर्क तोड़े जा सकते हैं और नास्तिक उन्हें तोड़ता है इसलिए नास्तिक से बड़ा भय और आज जो जमीन पर इतनी ज्यादा नास्तिकता दिखाई पड़ रही वो इसलिए नहीं कि दुनिया नास्तिक हो गई वो जो निकृष्ट आस्तिकता थी वो मुश्किल में पड़ गई दुनिया ज्यादा तर्कवान हो गई जिन तर्कों से आप ईश्वर को सिद्ध करते थे उन्हीं से लोग अब ईश्वर को असिद्ध कर रहे हैं दुनिया ज्यादा तर्कवान हो गई ज्यादा विचारशील हो गई इसलिए अब धोखा नहीं दिया जा सकता है अब आपको तर्क को उसकी पूरे अंतिम स्थिति तक ले जाना पड़ता है अर्चन हो जाती श्रेष्ठ श्रद्धा क्या है जो तर्क पर खड़ी नहीं अनुभव पर खड़ी जो विचार पर खड़ी नहीं प्रतीति पर खड़ी जो ये नहीं कहती कि इस कारण ईश्वर होना चाहिए जो कहती है कि ऐसा अनुभव है ईश्वर है होना चाहिए नहीं है अरविंद को किसी ने पूछा कि क्या ईश्वर मैं आपका विश्वास तो अरविंद ने कहा नहीं जिसने पूछा था वो बहुत हैरान हुआ उसने पूछा था do you believe in God और अरविंद ने कहा नो सोच के आया था दूर से वो खोजी कि कम से कम एक अरविंद तो ऐसा व्यक्ति है जो मेरा ईश्वर में भरोसा बढ़ा देगा और अरविंद से ये सुन के कि नहीं उसकी बेचैनी हम समझ सकते हैं उसने कहा आप क्या कह रहे हैं ईश्वर नहीं आपका भरोसा नहीं विश्वास नहीं तो क्या ईश्वर नहीं है तो अरविंद ने कहा नहीं ईश्वर है लेकिन मुझे उसमें विश्वास की जरूरत नहीं क्योंकि मैं जानता हूं वो है and this is not a belief I know he is ये थोड़ा तो सोचने जैसा है हम विश्वास ही उन चीजों में करते हैं जिनका हमें भरोसा नहीं है आप सूरज में विश्वास नहीं करते पृथ्वी में विश्वास नहीं करते मैं यहां बैठा हूं इसमें आप विश्वास नहीं करते आप जानते हैं कि मैं यहां बैठा हूं आप ईश्वर में विश्वास करते हैं क्योंकि आप जानते नहीं कि ईश्वर है या नहीं जहां भरोसा नहीं है वहां विश्वास ये जरा उल्टा लगेगा पैराडॉक्सिकल लगेगा क्योंकि हम तो विश्वास का मतलब ही भरोसा समझते हैं जब कोई आदमी आपसे आके कहे कि मुझे आप में पक्का विश्वास है तब आप समझ ले इस आदमी को आप में विश्वास नहीं तो पक्का विश्वास कहने की जरूरत न थी भरोसा विश्वास शब्द का उपयोग ही नहीं करता और जब कोई आदमी बहुत ही ज्यादा जोर देने लगे कि नहीं पक्का ही विश्वास है तब आप अपनी जेब वगैरह से सावधान रहें वो आदमी कुछ भी कर सकता और उस आदमी को घर में मत ठहरने लगे क्योंकि इतना ज्यादा विश्वास खतरनाक वो बता रहा है कि वो भरोसा दिला रहा है आपको कि विश्वास है उसे विश्वास नहीं जिस दिन कोई प्रेमी बार बार कहने लगे कि मुझे बहुत प्रेम है मुझे बहुत प्रेम उस दिन समझना कि प्रेम चुप गए जब प्रेम होता है तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती अनुभव में आता जब प्रेम होता है तो उसकी तरंगें अनुभव होती जब प्रेम होता है तो उसकी सुगंध अनुभव में आती जब प्रेम होता है तो वाणी बहुत कचरा मालूम पड़ती कहने की जरूरत नहीं होती कि मुझे प्रेम जब प्रेम चुक जाता है इसलिए अक्सर प्रेमी और प्रेसी एक दूसरे से नहीं कहते कि मुझे बहुत प्रेम पति पत्नी अक्सर कहते मुझे बहुत प्रेम रोज रोज भरोसा दिलाना पड़ता है अपने को भी दूसरे को भी क्योंकि है तो नहीं अब भरोसा दिला दिला कर ही अपने को समझाना पड़ता है और दूसरे को भी समझाना पड़ता है जिस बात की कमी होती है उसको हम विश्वास से पूरा करते हैं अरविंद ने ठीक कहा कि मैं जानता हूं वो है उसके होने के लिए तो तर्क की जरूरत नहीं उसके होने के लिए अनुभव की जरूरत क्या है अनुभव उसके होने का और आपको नहीं हो पाता अगर अनुभव तो बाधा क्या है ऐसा ही समझे सागर के किनारे खड़े लहरें उठती हर लहर समझ सकती है कि मैं हूं लेकिन लहर है नहीं है तो सिर्फ सागर अभी लहर है अभी नहीं हो अभी नहीं थी अभी है अभी नहीं हो जाएगी लहर का होना क्षण भंगुर है लेकिन लहर के भीतर वो जो सागर है वो शाश्वत है आप अभी नहीं थे अभी हैं अभी नहीं हो जाएंगे आप एक लहर से ज्यादा नहीं इस जगत के सागर में इस होने के सागर में अस्तित्व के सागर में आप एक लहर लेकिन लहर अपने को मान लेती है कि मैं हूं और जब लहर अपने को मानती है मैं हूं तभी सागर को भूल जाती है स्वयं को मान लेने में परमात्मा विस्मरण हो जाता है क्योंकि जो लहर अपने को मानेगी वो सागर को कैसे याद रख सकती है इसे थोड़ा समझ लें लहर अगर अपने को मानती है कि मैं हूं तो उसे मानना ही पड़ेगा कि सागर नहीं है क्योंकि अगर उसे सागर को दिखाई पड़ जाए कि सागर है तो उसे अपने भीतर भी सागर ही दिखाई पड़ेगा फिर अपने को अलग मानने का उपाय न रह जाएगा लहर अपने अहंकार को बचाना चाहती हो तो सागर को इंकार करना जरूरी उसे कहना चाहिए सागर वगैरह सब बातचीत कहीं देखा तो नहीं और आप भी जानते हैं सागर आपने भी नहीं देखा दिखाई तो हमेशा लहरें ही पड़ती सागर तो हमेशा नीचे छिपा है दिखाई कभी नहीं पड़ता जब भी दिखाई पड़ती लहर दिखाई पड़ती तो लहर कहेगी सागर को देखा किसने किसी ने कभी नहीं देखा सिर्फ बातचीत है दिखती हमेशा लहर मैं हूं और सागर सिर्फ कल्पना है लेकिन लहर अगर अपने भीतर भी प्रवेश कर जाए तो सागर में प्रवेश कर जाएगी क्योंकि उसके भीतर सागर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं लहर सागर का एक रूप लहर सागर के होने का एक ढंग लहर सागर की है एक तरंग लहर होके भी लहर सागर ही है सिर्फ आकृति में थोड़ा सा फर्क पड़ा है सिर्फ आकार निर्मित हुआ है जब कोई व्यक्ति अपने अस्तित्व को ठीक से समझ पाता है अपने को भी समझ पाता है ठीक से तो लहर खो जाती है और सागर प्रकट हो जाता या अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे को भी ठीक से समझ पाता है तो लहर खो जाती है और सागर प्रकट हो जाता है अगर आप किसी के गहरे प्रेम में हैं तो जिस क्षण गहरा प्रेम होगा उस क्षण उस व्यक्ति की लहर खो जाएगी और उस लहर में आपको सागर दिखाई पड़ेगा इसलिए अगर प्रेमियों को अपने प्रेमियों में परमात्मा दिखाई पड़ गया है तो आश्चर्य नहीं दिखाई पड़ना ही चाहिए और वो प्रेम प्रेम ही नहीं जिसमें लहर ना खो जाए और सागर का अनुभव ना होने दूसरे में भी दिखाई पड़ सकता है स्वयं में भी दिखाई पड़ सकता है जहां भी ध्यान गहरा हो जाए वहीं दिखाई पड़ सकता है ऐसी प्रतीति जब आपको हो जाए सागर की तो उस प्रतीति से जो श्रद्धा का जन्म होता है वो विश्वास नहीं दैट्स नॉट ए बिलीफ श्रद्धा कोई विश्वास नहीं श्रद्धा एक अनुभव और तब ये सारी दुनिया के तर्क आपसे कहें कि परमात्मा नहीं तो भी आप हंसते रहेंगे और सारे तर्क सुनने के बाद भी आप कहेंगे कि ये सारे तर्क बड़े प्यारे हैं मजेदार मनोरंजक लेकिन परमात्मा है और इन तर्कों से वो खंडित नहीं होता ध्यान रहे ना तो तर्कों से वो सिद्ध होता है और न तर्कों से वो खंडित होता है जो लोग समझते हैं तर्कों से वो सिद्ध होता है वो हमेशा मुश्किल में पड़ेंगे क्योंकि फिर तर्कों से मानना पड़ेगा कि वो खंडित भी हो सकता है और जिस चीज के लिए आपके प्रमाण की जरूरत है वो आपके प्रमाण के हट जाने पर खो जाएगी परमात्मा को आपके प्रमाणों की कोई भी जरूरत नहीं परमात्मा का होना आपका निर्णय नहीं आपके गणित का निष्कर्ष नहीं परमात्मा का होना आपके होने से पूर्व है और परमात्मा का होना अभी इस क्षण में भी आपके होने के भीतर वैसा ही छिपा है जैसे लहर के भीतर सागर छिपा है आप जब नहीं थे तब क्या था जब आप नहीं थे तो आपके भीतर जो आज है वो कहां था क्योंकि जो भी है वो नष्ट नहीं होता नष्ट होने का कोई उपाय नहीं है विनाश असंभव है विज्ञान भी स्वीकार करता है कि जगत में कोई भी चीज विनष्ट नहीं हो सकती क्योंकि विनष्ट होकर जाएगी कहा भेजिएगा कहा से पानी की एक बूंद को आप नष्ट नहीं कर सकते भाप बन सकती है लेकिन भाप बन के रहेगी भाप को भी तोड़ सकते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन के रहेगी लेकिन आप नष्ट नहीं कर सकते एक पानी की बूंद भी जहां नष्ट नहीं होती वहां आप जब कल नहीं थे तो कहां थे जेन में जापान में साधकों को वे एक पहेली देते हैं उसे वो कहते हैं कोआन वो कहते हैं कि जब तुम नहीं थे तो कहां थे इसकी खोज करो और जब तुम पैदा नहीं हुए थे तो तुम्हारा चेहरा कैसा था इस पर ध्यान करो और जब तुम मर जाओगे तो तुम कहां पहुंचोगे इसकी थोड़ी खोज करो क्योंकि जब तक तुम्हें इसका पता न चल जाए कि जन्म के पहले तुम कहाँ थे और मरने के बाद तुम कहाँ रहोगे तब तक तुम्हें यह भी पता नहीं चल सकता कि इसी क्षण अभी तुम कहाँ हो अभी भी तुम्हें पता नहीं हो भी नहीं सकता क्योंकि लहर का भर तुम्हें पता है जो अभी नहीं थी अभी है अभी नहीं हो जाएगी उस सागर का कोई पता नहीं जो था इस लहर के पहले भी अभी भी है और लहर मिट जाएगी तब भी होगा सिर्फ आकार मिटते हैं जगत में अस्तित्व नहीं हम आकार हैं और आकार के भीतर छिपा हुआ जो अस्तित्व है वो परमात्मा है श्रेष्ठ श्रद्धा उस श्रद्धा का नाम है जो इस प्रती इस साक्षात से जन्म पाती है ये किसी शास्त्र से पढ़ा हुआ किसी गुरु का कहा हुआ मान लेने से नहीं होगा ये आपके ही जीवन अनुभव का हिस्सा बनना चाहिए ये आपको ही प्रतीत होना चाहिए अगर परमात्मा आपका निजी अनुभव नहीं है तो आपकी आस्तिकता थोथी उसकी कोई कीमत नहीं वो कागज की नाव है उससे भाव सागर पार करने की कोशिश मत करना उसमें बुरी तरह डूबेंगे उससे तो किनारे पे बैठे रहना वही अच्छा अनुभव की नाव ही वास्तविक नाव है मेरे में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन व ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अति श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त मुझ सगुण रूप परमेश्वर को बचते हैं वे मेरे को योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य हैं अर्थात उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूँ प्रेम परम योग प्रेम से श्रेष्ठ कोई अनुभव नहीं और इसीलिए भक्ति श्रेष्ठतम मार्ग बन जाती क्योंकि वो प्रेम का ही रूपांतरण